उस वीडियो में एक बूढ़ी औरत दिख रही थी उसकी उम्र तकरीबन पैंसठ सत्तर साल थी वीडियो में वो जोर जोर से रोती हुई नजर आ रही थी रोते हुए उसने कहा मैंने मारा है उन लोगों को मैंने मर्डर किया है इससे मेरे बेटे का कुछ लेना देना नहीं है उसने कुछ नहीं किया है वीडियो में उस औरत के रोने की आवाज आने के साथ ही बैकग्राउंड में कई सारे कुत्तों के भौंकने की भी आवाज सुनाई दे रही थी जाहिर है कि ये आवाज विक्रांत के शेरलॉक होम्स की थी जिसे कि हर्ष अभी तक अपने साथ लेकर घूम रहा था अभी पूरी वीडियो खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही विक्रांत ने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा हाँ, देख लिया अब यकीन हो गया ये तुम्हारी माँ ही है ना बासु लहरी लाइट हाउस के गार्ड की वाइफ और अशोकन की माँ विक्रांत ने वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों की तरफ नजरें फेरते हुए कहा फिर विक्रांत ने अपना फोन अशोकन की आंखों के ठीक आगे करते हुए कहा देखो ध्यान से तुम्हारी माँ ही तुम्हारे साथ इस मर्डर में इन्वॉल्व थी और अब तो तुम्हारी माँ ने सब कुछ कबूल भी कर लिया है उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है ये सुनकर तो इंस्पेक्टर अशोकन के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई मानो वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ेगा उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी पल रो पड़ेगा तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टर हो इस वजह से तुम कुछ भी करके बचे रह सकते हो विक्रांत ने फिर अशोकन की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा मुझे तुम पर पहले से ही शक था और ये भी शक था कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई इस काम में जरूर इन्वॉल्व है इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारे घर पर अपने आदमियों को भेज रखा था और मेरा शक बिल्कुल सही निकला तुम्हारी माँ ने एक बार में ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया भले ही इस वक्त विक्रांत अशोकन से ये कह रहा था कि उसने बड़ी आसानी से उसकी माँ को सब एक्सेप्ट करने के लिए राजी करवा लिया लेकिन विक्रांत ने भी बहुत कमाल का गेम खेला था जब से विक्रांत अशोकन के साथ बात कर रहा था तब से हर्षित लगातार अपने लैपटॉप पर काफी स्पेशल काम करने में लगा हुआ था वो अपने लैपटॉप पर वीडियो एडिटिंग और वॉइस एडिटिंग का काम कर रहा था वो एडिटिंग को इस तरीके से कर रहा था जिससे कि उसका इस्तेमाल अशोकन की माँ से सच उगलवाने के लिए किया जा सके जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अशोकन जब विक्रांत से बात कर रहा था तब उसने उत्तेजित होकर ये कहा था कि आपका मतलब सिर्फ फिल्म बनने के चलते मैंने एक साथ छह लोगों का मर्डर कर दिया है इसमें से हर्षित ने शुरू की लाइन को काट दिया और सिर्फ इतनी क्लिप तैयार की कि जिसमें अशोकन कहता दिख रहा है कि मैंने एक साथ छह लोगों का मर्डर किया ये ऑडियो क्लिप बनाकर हर्षित ने तुरंत ही हर्ष और अनुष्का के पास भेज दिया और फिर अनुष्का ने यही एडिटिंग वाली ऑडियो अशोकन की माँ को सुनाया और उसने बता दिया कि अशोकन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है अनुष्का साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी ऐसे में उसने जब अपने बेटे की जुर्म कबूल करने की आवाज़ सुनी तो वो घबरा कर अपना जुर्म कबूल करने लगी अशोक की माँ ने तो यहाँ तक कहा कि उसने अकेले ही सारा मर्डर किया है जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वो अकेले इतने लोगों को भला कैसे मार सकती है जरूर उसके साथ में अशोकन भी रहा होगा अशोकन को उसकी माँ का कन्फेशन वाला पूरा वीडियो दिखाने के बाद विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा अशोकन उस रात को तुम सिर्फ एक ही आदमी का मर्डर करने वाले थे लेकिन तुमने अचानक ये इतने लोगों को मारने का प्लान इसलिए बना लिया था क्योंकि तो तुम्हारे पास एक साथी था और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि तुम्हारा साथी तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकता क्योंकि वो साथी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है और तुम्हारी माँ कोई और नहीं बल्कि लाइट हाउस के मर्डर केस की विक्टिम बासु लहरी थी विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा और अब उसकी धाड़ सुनकर अशोकन के चेहरे पर भी डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था तुम पक्का कोई दूसरी स्पीड बोट लेकर वहाँ पर गए हुए थे विक्रांत ने आगे की चीजें एक्सप्लेन करते हुए कहा तुम वहाँ पर अपनी अलग स्पीड बोट से पहुँचे थे और तुमने उस स्पीड बोट को बीच के क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर एक चट्टान के पीछे छुपा रखा था और उस जगह पर तुमने स्पीड बोट को इसलिए छुपाया था ताकि कोई तुम्हारी बोट को देख ना पाए इसके बाद तुमने कौशिक को भी ठीक उसी जगह के पास ले जाकर मारा था कौशिक को मारकर सीधे अपनी बोट लेकर तुम वहाँ से निकल गए विक्रांत की ये बात सुनकर अशोकन बिल्कुल अवाक रह गया वो सन्न होकर विक्रांत की तरफ देखे जा रहा था इसके बाद विक्रांत ने आगे बताते हुए कहा उन लोगों को मारने के बाद तुम और तुम्हारी माँ बीच से एक साथ नहीं गए बल्कि दोनों अलग अलग बोर्ड से और अलग अलग रास्ते से होते हुए वहाँ से फरार हुए और तुम दोनों ने ऐसा इसलिए किया था कि तुम लोग मर्डर का पूरा इल्जाम दयाकर रेड्डी के ऊपर लगा सको दयाकर को मारने के बाद पहले उसके कपड़े चेंज किए उसके कपड़े को पहनकर तुमने कौशिक के ऊपर चाकू से हमला किया ताकि बाद में कौशिक दयाकर के कपड़े को देखकर शक जता सके कि मर्डर दयाकर नहीं किया है कौशिक के ऊपर हमला करने के बाद तुम दया करके डेड बॉडी को अपनी बोट में डालकर वर्कला के मेन बीच की तरफ निकले और फिर तुमने या तो समुद्र में कहीं उसकी डेड बॉडी छोड़ दिया था या फिर कहीं और ले जाकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था जबकि तुम्हारी माँ क्रू मेंबर्स का एक बोट लेकर अकेले दूसरी तरफ गई वहाँ जाकर उसने बोट को किनारे छोड़ दिया ताकि पुलिस को ये लगे कि दया कर ही इन लोगों का मर्डर करके बोट लेकर भागा हुआ है फिर पुलिस दया करके तलाश में लगी रहे और तुम माँ बेटे मौत से रहो छी तुम कितना गंदा आदमी है कितनी स्टोरी बना रहा है और तुमको शेम नहीं आती एक ओल्ड लेडी को बदनाम कर रहा है उस बेचारी के ऊपर मर्डर का ब्लेम लगा रहा है बहुत शेमलेस पर्सन है अशोकन ने अपने दांत पीसते हुए विक्रांत से कहा तुमको शेम आता है पुलिस वाला हो के छह लोगों का मर्डर करके बैठा है तुम्हारी माँ को जरा सा भी शर्म आती है कि उसने इस उम्र में इतना बड़ा क्राइम किया है विक्रांत ने जोर से चिल्लाते हुए अशोकन की ही लैंग्वेज में उसे जवाब दिया विक्रांत के दहाड़ने की आवाज में कमरे में गूंज उठी अशोकन गुस्से से लाल आंखों से विक्रांत को देखने लगा तुम बहुत घटिया आदमी है अशोकन ने भी चिल्लाते हुए कहा और इसके साथ ही वो विक्रांत को दबोचने के लिए झपट पड़ा लेकिन तभी विक्रांत के ठीक बगल में खड़ी समंता ने उसके ऊपर बंदूक तान दिया लेकिन इस वक्त वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले मौजूद थे तो उन्होंने दौड़कर समंता को रोकना शुरू कर दिया यहाँ पर मौजूद अधिकतर पुलिस वाले अशोकन के साथ काम कर चुके थे ऐसे में वो लोग अशोकन के साथ थोड़ी सिंपथी भी दिखा रहे थे देखा आप लोगों ने इस आदमी की हिम्मत तो देखो कैसे अपने से सीनियर ऑफिसर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है इससे तो और साबित होता है कि ये कितने क्रिमिनल माइंड का शख्स है विक्रांत ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा अशोक ने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा बिल्कुल तुम ये सब क्यों कर रहा है मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है तुम मेरी माँ को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है क्यों माँ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं बल्कि तुम्हारी माँ ने खुद मेरे ऑफिसर के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उसने ही फिल्म क्रू के लोगों का मर्डर किया है समझे तुम विक्रांत ने जवाब दिया और अब तुम भी अपना नाटक बंद करो तुम्हें तो अब सीधे फांसी दी जाएगी फांसी तुम इलीगल तरीके से मेरी माँ को फंसा रहा है तुमने उसको डरा कर उसका बयान लिया है हमने किसी को नहीं मारी हम किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता अशोक ने विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा वो विक्रांत को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे मानो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा